प्रतिदिन नई कहानियां सिर्फ कामुक्ता डॉट कॉम पर सुहाग रात है और गुंगट उठा रहा है वो ओ ओ आप सोच रहे होगे कि मैं गाना क्यों गा रही हूँ क्योंकि आज की कहानी का नाम है सुहाग रात इसीलिए तो शुरू करते हैं कहानी मैं लाली हूँ चौंतीस साल की होने पर भी अकेली हूँ और शादी के बारे में ना ही सोचा है मैं अपनी बुरी माँ के साथ रहती हूँ मेरा एक भाई और दो बहनें शादीशुदा है और वो अलग रहते हैं मेरे रत्तीस आकार के सुडल स्तन है और मेरी कुंवारी चुत जिसमें एक लाल छेद है पर मुझे गर्व है मेरे पिता की काफ़ी पहले मौत हो गई थी तब से मैं ही माँ की देखभाल कर रही हूँ मेरी बड़ी बहन विधवा है इसलिए माँ को अक्सर उसके पास जाना पड़ता है मैं बाल मंदिर विद्यालय में अध्यापिका हूँ नज़दीकी रिश्तों में मेरे एक मौसी मासा और उनके दो बच्चे हैं मेरी मौसी अपने परिवार के साथ खुश है अपनी ज़िंदगी में मैंने जितने मर्दों को देखा है उनमें मैं अपने मौसा को पसंद करती हूँ वो एक शांत स्वभाव के अच्छे पति अच्छे पिता और अच्छे मित्र है मेरे पिता की मौत के बाद उन्होंने हमारे परिवार की देखभाल की एक बार बरसात के मौसम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं अकेली ब्लाउज और पेटीकोट में बैठी टीवी देख रही थी एक अंग्रेज़ी फिल्म चल रही थी तो मैं उसे देख रही थी घर पर अक्सर मैं ब्रा पैंटी नहीं पहनती हूँ और किसिंग सिम चल रहा था रात के ग्यारह बज रहे थे तभी दरवाजे पर एक घंटी बजी मुझे हैरानी हुई पहले मैंने टीवी बंद किया फिर दुपट्टा ओढ़ कर दरवाजे तक गई और अंदर से ही पूछा कौन है लेकिन जवाब नहीं मिला मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो मौसा जी को देखा वो बोले हेलो लाली कैसी हो तुम्हारी माँ कहाँ है मैंने कहा अंदर तो आई है मौसा जी और मौसा जी अंदर आए ओह क्या मम्मी नहीं है मैंने कहा दीदी के वहाँ पे गई है तो फिर मैं चलता हूँ मैंने कहा क्या ये घर नहीं है नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने कहा तुम अगर कहती हो तो मैं रुक जाऊंगा क्योंकि बारिश भी बाहर बढ़ गई है हम दोनों ही भीतर आ गए मैंने पानी दिया तब उनकी नज़र मेरी नज़र से टकराई मैं भूल चुकी थी कि मैंने अंडरवियर ही नहीं पहना है उनकी नज़र पानी पीते पीते सीधी मेरी चुचियों पर गई उसका ब्रा नहीं पहनने से आकार बहुत बड़ा दिखाई देता था मैंने अपने को संभाला प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ का मुक्ता डॉट कॉम पर लेकिन बातें करते करते उन्होंने कहा सच कहू लाली तेरी चुचिया बहुत बड़ी है और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे अगले ही पल में मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं चिल्ला उठी और कहने लगी मुझे छोड़ दो लेकिन वो तो नहीं माने और मुझे कस के चूमने लगे मैं एतराज़ करती रही पर मेरी नहीं चली वो मेरे होठों का रस पीने लगी और कुछ भी मैं नहीं कर सकी वो जी भर के चुमने लगे मुझे फिर धीरे से मेरा दुपट्टा खींच कर अलग कर दिया मैंने खूब हाथ पाँव मारे फिर भी वो मुझे चुमते रहे एक बार मैंने धक्का मारा तो मैं बाहों से निकल गई लेकिन तुरंत मुझे फिर से उन्होंने कस कर दबाया तो दोनों चुचियाँ पूरी तरह दब गई मैंने फिर से जोर लगाया पर मेरी जो चेयर पर हौले हौले दबा रहे थे वो फिर पीछे जाकर मेरी गर्दन गाल कंधे को चूमने लगे और सहलाने लगे और दोनों चुचियों को ब्लाउज के ऊपर से ही दबाते रहे करीब पाँच मिनट तक ये खेल चलता रहा मैं अलग न हो सकी पर मौका मिला तो ज़ोर से धक्का मारा लेकिन ये क्या जैसे मैं दूर गई कि मेरा ब्लाउज फाड़ दिया उन्होंने और दोनों चुचिया कैद में से मुक्त होकर पहली बार किसी मर्द के सामने उछल कर नंगी हो गई थी हाय राम ये क्या किया मैं दोनों चुचियों पर हाथ रख ढक दिए तो वो आगे आकर बोले लाली उसको छोड़ दो मैं उसे नंगा देखना चाहता हूँ मैं नहीं माने तब वो करीब आके बोले दोनों हाथों को उठा लो नहीं नहीं मैं चिल्लाई पर उन्होंने मेरे दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया और दोनों नंगी चुचियों को पाकर देखकर वो आनंदित हो गए पूरा नंगापन देखकर कहा लाली इतनी बड़ी और कड़ी चुचिया पहली बार देखी है इतना कहकर बाकी ब्लाउज को हटाया और दोनों चुचियों को पहल पहले पिया अपने हाथों को अपने हाथों को रख रख कर किया दोनों को हौले हौले दबाया फिर निप्पल को प्यार से दुलार से चुच्चू को सहलाया और दबाया मेरी कुछ न चली धीरे से खींचकर बाहों में लेकर सीने से लगाया मैं मचल उठी पहली बार मर्द के सामने नंगी चुचियों की थी वो प्यार से दोनों फलों को दबाना और सहलाना करते करते मेरे नीचे अपने एक हाथ को ले गए कहा लाली सच कहूँ तुम्हारी चुचिया मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपना आप को संभाल न सकी उन्होंने नाड़ा खींचकर पेटीकोट को नीचे गिरा दिया और मैं एकदम नंगी हो गई मौसा जी के सामने लेकिन मौसा जी को मौसा जी तो बहुत खुश हो गए थे मेरे नंगा उनको देख कर मुझे उठाकर बेड पर ले गए उन्होंने अपने सभी कपड़े निकाल दिए मैं तो सिर्फ हाय हाय कर उठी उसके नंगे लन को देखा तो पूरे आठ इंच लंबा हो गया था मेरी कर मेरी चुत को देखकर मेरी साइड आकर चुचियों को पकड़ कर दबाए और बाद में चूसना और दूसरी को मसलने लगे फिर दूसरी को चूसा पहली को मसलने लगे बारी बारी दोनों चुचियों को खूब चूसा और दबाया निप्पल को बच्चे की तरह बार बार चूस रहे थे मैं तो बेताब हो गई थी पहली बार किसी मर्द ने मुझे नंगा देखा था धीरे धीरे उंगली मेरी हसीन जूत पर फिराने लगे थे मैं जोश में आने लगी थी आखिर कब तक अपने आप से लड़ती रहती बस मैंने दोनों होठों को मौसा जी के होठ पर रख कर चूसना और चुमना शुरू कर दिया जियो मेरी रानी ये कहकर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया किलन का पहला स्पर्श चुत से हुआ अपनी चुत को हटाया तो चुचियों को चुलबुलाने लगी प्रतिदिन नई कहानियां सिर्फ कामुक्ता डॉट कॉम पर मैं अब गर्म होने लगी थी होठों को होटू का और चुचियों का रस करीब पंद्रह मिनट तक पीने के बाद मुझे नीचे गिराकर वो ऊपर आ गए और मेरा पूरा बदन कंपन करने लगा था उन्होंने मेरी नंगी जवानी को देखा फिर अपने होठों से पूरा बदन चुमने सहलाने लगे और दबाने लगे मेरी चुत के सिवाय सभी हिस्सों को कई बार चुमा तो मेरी दोनों डांगे खुद फैल गई और मैं हार गई थी मुझे भी अब रहा नहीं जाता था उन्होंने मेरी चुचियों जोर से कस की मैं तो सिर्फ आहे पड़ रही थी मैं मर जाऊंगी मेरे मौसा जी अब नहीं रहा जाता हाय रे बिना से बोलो मेरी लाली बोलो मेरी लाली रानी मुझे सिर्फ तुम्हारा कसा हुआ लन चाहिए जी भर के जो दो मुझे अपना लो मौसा जी मुझे हाँ हाँ बोलो मेरी लाली रानी मौसा जी तब मैंने दोनों टांगें ज़्यादा फैलाई मेरी चूत देखकर उनका लौड़ा पूरी तरह तनकर खड़ा हो गया था वो अब झुक गया था मेरी चूत पर धीरे धीरे चूत को चूमने लगे थे मैं चिल्ला उठी बस करो मेरे प्यार बस करो मैं गई पर उन्होंने कुछ न सुना और अपने जीप को चूत में डालकर चूसने लगे मेरी तो अब जान ही निकलने लग गई थी होए माँ ये क्या कर रहे हैं आप अब और मत तरसाओ अपनी रानी को अपनी टांगे खुद फैला के बोली वो पूरे पाँच मिनट तक चुस्ता रहा मेरी जुद खुल गई थी अब इंतज़ार करना ठीक नहीं था मैंने दोनों पाँव को ऊपर उठाकर मुझे मंजरी आसन में ले लिया मौसा जी अब मत रुको मेरी चुत मस्तानी हो गई है अब मैंने लन को पकड़कर चुत पर रख दिया वो और आहे बनने लगी मौसा जी चो दो मेरी चो दो आज मेरी तब उन्होंने धीरे से चूत लन दबाया ओह मेरी गुब्बारी चूत पैंतीस साल के बाद जुदाई उन्होंने दूसरा धक्का मारा तो वो खुल गई थी ओह हो मैं मर जाऊंगी तब उनका तीसरा और एक दो एक दो करता हुआ लन अपनी मंजिल और आगे बढ़ा गया और मैं तो सिर्फ आहे भरती रही सच में उनको मेरी जुद बहुत डाइट लगी पर अब वो मानने वाले कहाँ थे धक्के पर धक्का धक्के पर धक्का फका फक फका फक चोदने लगे मंजिल को छू लिया पूरा लन अब मेरी चूत में था और अब मेरी दोनों चुचियों को कस कर दबाते दबाते जी भर के मस्त जुदाई का आनंद लेने लगे मैं भी मस्त हो चुकी थी वो भी पूरी तरह चोदने लगे थे अब दिल खोल के भी चुचिया और चुदाई करवाने लगी थी लाली बहुत मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है मेरे राजा जो जोर से करो अब चोदो मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ चोद दो मेरे राजा बस कस कस के चोदो मैं चलने लगे तब धीरे धीरे दोनों बाहों में भर गए मैंने अपने ऊपर खींचा और तेज़ और तेज़ मसाजी पूरी तरह चोद लो स्पीड बढ़ाते गए और तेज़ तेज़ फका फक फका फक फचा फच फचा फच चोते रहे मैं गई मौसाजी पूरी तरह मेरे पर छूट गए और पहली बार वीरदान कर दिया हमारा मिलन हुआ वो मेरे ऊपर थे मैंने कस कर उसे मेरी चूचियों पर दबाया हमारी सांसें तेज और एक हो गई बाहर बारिश भी तेज़ बरस रही थी और मैंने अपनी सुहाग रात चार बार चुदवा के मनाई प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता डॉट कॉम पर